बसमीम वलफ़साहत फ़िलकलाम खलूसह मिन ज़ुअफ़िलहादीथ व तनाफ़ुरिलकलिमात व ताक़ीद मع फ़साहतिहा पीछे फसाहत फिल मुफरद फसाहत कलीमा को बयान किया गया कि फसाहत फिल मुफरद किसको कहते हैं उसके लिए किन किन चीज़ों से खाली होना ज़रूरी है कलिमा फसीह किस वक्त होगा अब यहाँ से फसाहत फिल कलाम को बयान फरमा रहा है कि कलाम फसीह कब होगा वो किन चीज़ों से खाली होना चाहिए और किन चीज़ों से पाक साफ होना चाहिए फसाहत फिल कलाम के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ ना होनी चाहिए उस को मुसनफ़ आलिमा इस इबारत के अंदर जिक्र फरमा रहे हैं तीन चीज़ों से कलाम खाली हो और चौथी चीज़ उसके अंदर मौजूद चौथी चीज़ ये कैद के तौर पर है वलफसाहत फिल कलामी खलूस मिन मिनजोफ तालीबी फसाहत फिल कलाम उस का खाली होना है जोफ़ तालीफ से व तनापुर कलीमाती और तनापुर कलीमात से व ताक़ीरी और ताक़ीद से मा इसके अंदर ज़मीर है खलूस में ज़मीर दुल्हाल उसका खाली होना है दरा हाले के मा वो सब कलिमात फसी हों उन कलिमात के फसी होने के साथ साथ कलाम का इन तीनों चीज़ों से खाली होना कलाम के जो कलिमात हैं उन कलिमात के फसीह होने के साथ साथ अगर किसी कलाम के अंदर कोई कलीमा गैर फसीह आ गया तो वो कलाम तो से निकल जाएगा समझना की बात अरे समझ में फसाहत फिल कलाम उसका खाली होना है ज़ौफ़ तारीफ से तनाफर कलिमात से और ताकीब से मा फसाहत यहाँ कलिमात के फसी होने के साथ साथ ये तो हुआ मतन अब शार अल्लामा तफ्ता जानी रहमतुल्लाह मा फसाहतिया के बारे में फरमा रहे हैं कि ये हाल है खलूस की हु जमीर से या हा जमीर से हुआ हालुम मिन ज़मीरी फ़ी खलूसी ये हाल है खलूसहू में ज़मीर खलूसहू के अंदर जब हाल ज़मीर है इसका हाल वाक़ है ठीक है ना मैंने बतला दिया भी करके वाह तारा ज़बी अन निकली जैदन अजलू वशारू मुस्तशर व अनफू और एतराज़ क्या है इसके ज़रिए किसके ज़रिए ये जो कैद लगाई है ना फसाहतिहा की जो कैद लगाई है इस कैद के ज़रिए एतराज़ क्या है जैदुल अजलू शाहरुह मुस्तर और अनफहू मुसर्रजुन जैसी मिसालों से अन मिसली जैसी मिसालों से जैदुन अजलू ये कलाम है जैदुन अजलू ये कलाम है जैद बुजुर्ग बरतर है ये कलाम हो गया जैदन मुबतदा अजलू खबर मुबतदा खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हो गया कलाम है ना लेकिन ये कलाम फसीह नहीं है इसलिए कि इसका हर कलीमा फसीह नहीं है ये कलाम फसीह नहीं है इसलिए कि इसका हर कलीमा फसीह नहीं है जैद तो फसी है लेकिन अजरल फसी नहीं है शाहरुह मुस्तशर उसके बाल मुस्तशर कैसे हैं हुँ? हम्म? आया था ना वो जोड़ा बंधे हुए कोई तो तो देखो शार मुस्तशरन ये कलाम है लेकिन चूंकि इसके अंदर इसके सारे कलिमात फसी नहीं है इस वजह से ये कलाम कलाम फसी नहीं होगा इसी तरह अनफू मुसरजन उसकी नाक सूरजी तलवार की तरह है या चिराग की तरह है देखो अनफू मुसर्रजन कलाम है लेकिन इसके चूंकि सारे कलिमात फसीह नहीं इसलिए ये कलाम सच्ची होने से खारिज हो गया ठीक है ये तो हुई बात सीधी सीधी अब आगे सुनो टेढ़ी मेढ़ी बात वकीदा हुआ मिनल कलिमाती वलव जकरहू बिजम दिहा लसलीमा मिनल फसली बैनल हाली वजीहा बिल अजनबी और कहा गया है मुसन्फ़ मुसनफ़ मख्तसरमानी यानी अलामा रहमत आने ने तो ये फरमाया था कि जो खलूस की ज़मीर है उस ज़मीर से माँ फसाहतिया या हाल वाक़ अब ये एक कौल जिक्र फरमा रहे हैं कि बाज़ लोगों ने यह कहा है कि यह हाल है कलीमात से ये हाल है कलीमात से कहा है कलीमात खलूस मिन ज़ौफ़ तालीफ़ी वतनापुरिल माती है ना वतनापुरिल कली मात ये बिलहाल और वो माफसाहतिहा हाल जिसमें है क्या उस फसाहत फिल कलाम उसका खाली होना है ज़ौफ़ ताली से तनाफुर कलीमात से ताकीब से माफसाहत या कलीमात के फंसी होने के साथ साथ जमीर कहाँ लौटती है कलीमात की तरफ करीमात के फंसे होने के साथ तो ये कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए था तालीफ उसके बाद में वतनापुर कलीमाती मा फसाहतियाँ कह देते जब वतनापुर कलीमाती मा फसाहतियाँ कह देते तो फिर जो बीच में ताकीद आ गया वह ताकीदी ये ना बस ये कलीमा जुलहाल और मा फसाहतिया हाल बन जाता और बीच में जो अजनबी एक लफ्ज आया है ताखिर इसका फसल ना आता समझना अशकाल अरे एक बात समझ आई इनकी जो कहा इन्होंने बाज ये कहते हैं कि खलूस खलूसहू मिनजौफ तालीफी व तनाफुर मा फसाहतिहा व ताक़ीदी कहना चाहिए था क्यों इसलिए कि ताक़ीद ये अजनबी है और यहाँ पर अजनबी का फसल हो रहा है अगर इसको कलीमात को यहाँ ले आते माफसाद यहाँ कलीमात से मिला देते उसके बाद ताफी कह देते तो अजनबी का फसल ना होता अजनबी का फसल कैसे हो रहा है वो भी समझने की बात देखो फलूसहू मिनज़ाफ़ तालीफ़ी व तनाफिर कलीमाती व ताफी नाफसा उसका खाली होना ज़ाफ़त आलिफ से तनाफुर कलीमात से और ताकिब से तनाफुर इसका आबिल कौन है खलूस का खाली होना किससे तनाफुर कलीमात और तो कलीमात का आमिल कौन है ये मुजाफिले है ना कलीमात मुजाफिले है तनाफुर मुजाफर और कलीमात मुजाफिले अरे नहीं है कलीमात मुजाफिले तो इसका आमिल क्या हुआ तनाफुर कलिमात का आमिल तनाफुर और ताकीद का आमिल क्या है खलूस हम्म। रजाफ तालीफ इसका आमिल भी है और तनाफुर कलिमात इसका आमिल भी है और ताकीद का आमिल भी है लेकिन जब कलिमात का आमिल है तो क्या है तनाफुर ताकीद का आमिल ये खलूस और कलिमात का आमिल तनाफुर तो देखो अजनबी हुआ ना यह ताकीद अजनबी हुआ ना क्योंकि इसका आमिल वो है इसका आमिल तनाफुर नहीं है इसका आमिल तनाफर नहीं है तो तनाफर होता तो ठीक से कोई बात नहीं थी लेकिन चूंकि इसका जो आमिल है तनाफुर का और ताकीद का वो तो है खलूस और कलिमात का जो आमिल है वो है तनाफुर अगर ताकीद का आमिल भी तनाफुर होता तो अजनबी का फसल ना होता तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कर लेते हमारी बात मान लेते तो खलूस हो मिन ताली व तनाफुरिल कलिमाती माफसाहतिहा व ताखीरी यूँ कह देते तो अजनबी का फसल से बच जाते महफूज हो जाते ठीक पता नहीं कुछ पल्ले भी पढ़ अरे पढ़ रही कुछ पल्ले थोड़ी हुआ कैसा ढीले ढीले से कैसा हो रहा है सब सब कुछ चाय बना के पिलानी पड़े ना कैसे ढीला हो रहा सब तो ऐसे लग रहे हो कुछ कुछ कुछ जब से सुस्त दी क्या है? चलो वकीला और कहा गया है वहाल मिनल कलिमाती वो वो कौन मा फसाहतिहा नीचे लिखा हुआ अई मा फसाहतिहा वो यानि मा फसाहत या हाल है कलिमात से कलिमात कहाँ आया नीचे लिखा हुआ मिन तनाफुर तनाफुर कलिमात तनाफुर कलिमात के अंदर ये जो एक तो मातिन बहुत अच्छे वाले हैं हमारे बहुत अच्छी बात जिक्र करते हैं और फिर सहारे जो है वो तो और माशाल्लाह और अगर कुछ कमी रह जा तो जो बैन वाले हैं उन्होंने उस कमियों को भी दूर कर दिया बचा ही गया अगर कुछ बच गया होगा तो वो हाशिए में ही है हो गया मसला वाला जकाराहू बिजम बिहा और अगर उसको उसके बराबर में जिक्र कर देते किसको अरे हु को हु को हु क्या माँ फसाहतिया अगर माँ फसाहतिया को बिजम बिहा उसके बराबर में जिक्र कर देते किसके कलीमात के है तनाफुल कलिमाती कलीमात के बराबर में बगल में जिक्र कर देते लसलीमा मिनल फसली बैनल हाली वजीहा तो हाल और जुलहाल के दरमियान फसल से बच जाते महफूज हो जाते सलामत रह जाते ठीक है हाल और जुलहाल के दरमियान अजनबी के फसल से महफूज हो जाते बच जाते अजनबी क्या है हुआ देखो अभी नीचे लिखा दे दिया कुछ भी नहीं करना सब लिखा हुआ लेकिन इम्तिहान में लिखा हुआ मैनस सतूर तो नहीं आएगा हम्म, हुआ फी ही नजर कोई बात कुछ भी कहता तो, लेकिन फी ही नजर इसके अंदर भी नजर है बात वही ठीक है पहली वाली अरे बंदी कर दो तो परेशान का वो नहीं कर सकता तो तर दुसरा तो हाथ थोड़ी दूसरे पेड़ थोड़ी दूसरे और तो चलो पूरा गदन में फिर खुल जाएगा असलम को वैसे बिना बुलाना आप वो भी ही नजर कहते हैं कि इसके अंदर नजर है लिया यकून कैदर लितनाफुरी लाल खलूसी इसलिए कि उस वक्त ये तनाफुर की कैद होगा ना कि खुलूस की और वयलजमूनकूनल कलामस्तमिल तनाफुलकलीमातिलफ़सीहती और ये लाजिम आएगा कि कलाम जो मुश्तमिल है तनाफुर कलीमात गैर फसीहा पर वो फसीह ना हो लियन यसदुक आलही इसलिए उस पर सादक आता है अन्नहू खालिसन अन तनाफुर कलिमाती हाल कौनिया फसीहतन कि वो खाली हो तनाफुर कलिमात से इस हाल में कि वो फसीह हो फब हम इसको अच्छी तरह से समझ लो समझने की कोशिश कर लो ये आता है मकाम के मुश्किल होने की तरफ इशारा करने के लिए देखो मा जा अनी जईदन वाकिबन जानी जैदन राकिबन मेरे पास जैद आया राकिबन राकिबन जरा हारे के वो सवार सवार होकर आया और माँ जानी जैदन राकिबन मेरे पास जैद नहीं आया सवार होकर है ना जरा हारे के वो सवार था देखो नफी किसकी होती है सवार सवार जो कैद होती है उसी की तो नफी होती है अरे ये कैद है हाल मेरे पास जेद आया किस तरह इसमें कैद लगा दी सवार होकर और जानी जैदन वाकिबन मेरे पास जेद नहीं आया किस तरह सवार होकर तो देखो माँ ने आकर नफी की किस चीज की कैद की कैद की नफी की ना है ना यानी सवार होकर नहीं आया ऐसे आ गया पैदल आ गया चूरू से तो चूरू तो था ही चूरू तो आ गया पैदल ही सवाल होकर नहीं आया अच्छा भाई अब इसके अंदर समझना है हम्म। मिन तनाफुर मिन जवाफ़ तालीफ़ी और तनाफुर कलिमाती तकीदी महा फसाहतिया इन्होंने क्या कहा था मुसनफ ने कि इसको कलीमात के साथ मिला दो हम्म? अब देखो उसका खाली होना फलूसहू मिन तनाफुर कलीमात थोड़ा ध्यान से समझना कलाम का खाली होना किन चीज़ों से तनासुर कलीमात से मा फसाहतिहा उसके फसी होने के साथ खाली होने का मतलब ना होना है ना तो तनाफर कलिमात इसके अंदर मकसद ही बदल जाएगा तनाफुर कलिमात हो और देखो यहाँ पर जो नफी होगी अब किसकी होगी यहाँ पर नफी करना है माँ फसाद या की नफी होगी उसका खाली हो यानी उसका ना होना कलाम का ना होना इस तरह फसी फसी यानी माँ फसाद या उसके फसी होने के साथ साथ ना होना गोल मोल कलाम का खाली होना तनाफुर कलीमात से उसके फसी होने के साथ अब यह है कैद और नफी जो होती है कैद की नफी होती है की नबी होती है खुलूस का मतलब ना होना अब इसका मतलब क्या हो जाएगा फसाद या के फसीह ना होना यानी तनाफुर कलीमात हो और उसके साथ साथ फसीह ना हो तो भी क्या हो जाएगा वो कलाम फसी हो जाएगा हालांकि ये अरे हालांकि ये जो हमने मुतन कर रखा है ये कायदा और मुतन कर रखा है एक उसूल उसके बिल्कुल खिलाफ अब इसमें क्या बात होगी कि भाई गैर यानी कलिमात फंसी ना हो कलिमात फंसी ना हो तो भी क्या हो जाएगा फंसी हो जाएगा तो माँ फसाहत है ये कैद है और नफी किसकी होती है कैद की होती है खुलूस का मतलब ना होना तो फसी कलिमात का फसी ना होना तो कलिमात का फसी ना होना हालांकि ये कैद क्या है महफूज है तो इस तरह से अगर कलिमात के बाद में माँ या को लेकर आते हैं तो इस तरह करने के अंदर मकसूद ही तब्दील हो जाता है इसलिए आपका ये कहना दुरुस्त नहीं है बल्कि इसको माँ फसाहतिया को हाल किससे करार देंगे खलूस होगी ज़मीर से ही करार देंगे उस वक्त में क्या हो जाएगा जवाब तालीम तनाफुर कलीमत ताकीद से खाली होना उसके फंसी होने के साथ साथ यानी ये तमाम भी हाल इससे होंगे रूसों की ज़मीर से और माँ फसात या ये भी इसी की ज़मीर से होगा तो सूरत में जो है बात सही होगी वरना अगर इस तरह कहा जाए कलिमात से इसको हाल करार दिया जाए तो उस वक्त में जो मुतन फायदा है वही बदल जाता है देखो जरा इबारत में कुछ कुछ फहम तो हुआ नहीं हुआ वफ़ी नजर और इसके अंदर नज़र है लिन इसलिए कि उस वक्त ये कैद होगा तनाफुर की लाल खरूसी ना के खरूस अरे उस वक्त में इमा फसाद किसकी कैद होगा तनाफुर की हम्म, ना के खलूस की वया की सूरत में जबकि कलिमात से हाल करार दिया जाए वयलजमून कलाम और लाजिम आएगा कि कलाम अलमुस्तमिल अला तनाफुलकलिमातिलफ़सीहती जो मुश्तमिल है तनापुर कलिमात गैर फसीहा पर फसीहा वो भी क्या हो जाए फसीह हो जाए لأنه يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات हाल कौनिहा फसीहतन इसलिए कि उस पर सादिक आता है कि वो तनाफुर कलिमात से खाली हो इस हाल में कि वो फसीह हो तनाफुर कलिमात से खाली हो इस हाल में कि वो फसीह हो कब हम इसको समझने की कोशिश कर लो समझ लो और अगर समझ में ना आए तो फिर कल को दोबारा समझ लो इसमें थोड़ा अपने तौर पर तुम कोशिश करना परेशान ना होना नहीं आएगा फिर तो इंशाल्लाह कल को थोड़ा सा कुछ कुछ तो करीब हो ही गया होगा जहन के जो कीला आते हैं ना एक कीला के ऊपर जो नज़र कायम करते हैं ये बड़ी कहीं कहीं बड़ी मुश्किल हो जाती है फर्क दूसरी चीज क्या है अरे कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा आया ना तो थोड़ा इंशाल्लाह कल के लिए बाकी रखो फर्स्ट फर्स्ट फसौफ बुरा होना जौफ तालीम फर्स्ट फसौफ फर्स्ट फसौफ ये है कि तालीफ कलाम अला खिलाफिल कानून नाहविल मशहूरी बैन जमहूरी कल इजमाल कबल ज़िक्री लफजन वमान वफ़ से मुराद ज़ौफ़ तालीफ कलाम का ज़ौफ़ तालीफ किसको कहते हैं तुमने पढ़ा था वहाँ कलाम का मशहूर नाहवी कायदे के खिलाफ होना जैसे एक मशहूर नकल कायदा है इजमार कबल ज़िक्र इजमार कबल ज़िक्र इसके अगर ख़िलाफ़ हो कोई कलाम तो फिर उसको क्या कहा जाएगा कि मशहूर नकल कायदे के ख़िलाफ़ है इसलिए इसके अंदर ज़ौफ़ तालीफ पाया जा रहा है और जब ज़ौफ़ तालीफ है तो है कलाम क्या हो जाएगा तो ताली हो जाएगा वो कलाम फसीफ न रहेगा बस तो ये है कि कलाम का तालीफ़ मरकब होना अला खिलाफिल कानूनी नहवी मशहूरी नहवी मशहूर कायदे के खिलाफ कैसा हो बैन जमहूरी अरे कहाँ मशहूर हो जमहूर के दरमियान जमहूर के दरमियान मशहूर नहवी कायदे के खिलाफ कलाम का मरकब होना जैसे इजमार कबल ज़िक्र लफजन मानन और हुक्मन ना मिसाल दी जराबा गुलाम जैदन उसके गुलाम ने जैद को मारा उसके गुलाम ने जैद को मारा अब देखो उसके गुलाम ने ये जमीर कहा लौट रही उसके किसके हैं अरे किसके हैं हाँ। इधर आगे जेद आ रहा ना जेद जेद के गुलाम ने जेद के गुलाम ने जेद को मारा तो देखो इसका मर्जा पीछे जिक्र है क्या नहीं है ना ये क्या हुआ इजमार कबल जिक्र इजमार कबल जिक्र किसको कहते हैं जमीर का जिक्र करने से पहले लाना अब देखो जमीर लेकर आए जरा गुलाम हु अब हु जमीर ये लौटनी चाहिए कहा इससे पहले की तरफ अब यहाँ पहले तो कुछ जिक्र हुआ नहीं उसके गुलाम ने किसके गुलाम ने पीछे है ही नहीं तो यहाँ पर इजमार कबला जिक्र है जिक्र करने से पहले जमीर का लेकर आना है हालांकि उसके मर्जे क्या बाद में जेद तो ये क्या है मशहूर नाफी कायदे के खिलाफ है ज़राबा गुलाम जैदन उसके गुलाम ने जैद को मारा और इसके अलावा और भी बहुत सी मिसालें हैं व तनाफुर अंतकुनल कलिमात सकीलतन अललिसानी व इनकाना कुल्लुम मिनहा फसीलतन अब तनाफुर के बारे में बयान फरमा रहे हैं कि तनाफुर ये है कि कलिमात जबान पर शकील कलिमात जबान पर शकील क्या कहा कलिमात जबान पर शकील कलिमा नहीं कलिमात जबान पर शकील इन काना कुल्लुम मिनहा फसीहतन अगरचे उनमें से हर एक फसीह हो अरे कलिमात अलग अलग तो फंसी हैं लेकिन अगर उनको एक साथ जोड़ दिया जाए कलिमात बन जाए कलीमे तो फंसी हैं लेकिन कलीमों को जब एक साथ जोड़ दिया अब कलाम बन गया इस सारे के सारे कलिमात को जोड़ने के बाद में क्या हो जबान पर तिकल आ जाता हो जुबान पर जो कला आ जाता हो इन्होंने ये कहा और तनाफुर अन तकूनल कलिमात शकीलतन आलसान तनाफुर ये है कि कलिमात जबान पर सकील हो ये नहीं कहा तनाफुर ये है कि कलिमा जबान पर सकील हो कलिमा जबान पर सकील हो ये नहीं कहा क्या कहा कलिमात जबान पर सकील हो इससे अगली बात खुद ब खुद निकल जाती है कौन सी वाली वह इनकाना कुल्लुमिनहा फसी हसन अगर जो उनमें से हरे क्या हो फसीह हो लेकिन मिलकर जबान पर फकीर हो जाते हैं वहाँ एक लफ्ज आया था दुरुस्त बलागा में मुझ मुजतम हसन का इकट्ठा नाहु शेर कुरबा कबरिन हरबिन कबरू वलैसा कुरबा कबरिन हरबिन कबरू हरबी के हर्ब की कबर के पास कोई कबर नहीं है हर्ब वह हुआ इसमें रजुलिन ये एक आदमी का नाम है देखो यहाँ पर उर्ब कब्र हर्ब कब्र ये सारे के सारे जो कलीमान हैं अलग अलग तस्वीर हैं लेकिन जब इनको एक साथ जोड़ दिया है तो अब क्या हो गए ये ज़बान पर शकील हो और ज़बान पर शकील हो गए तो अब कलाम क्या हो जाएगा मेरे फसीह हो जाएगा हर्ब की कबर के पास कोई कबर नहीं है हुआ क्या था मैंने पहले बतला चुका हूँ ये दुरुसल में फिर सुन लो थोड़ा सा हुआ ये था कि हर्ब कहीं जंगल वगैरह में था कोई सांप दिखा तो सांप को मार दिया और वो सांप जो था वो था जिन्नात और जिन्नात था मार दिया तो अब दूसरा जिन आ गया या जिन्नी आ गई अब उसने इससे बदला लिया एक चीख मारी उस चीख की वजह से इस हर्ब की जान निकल गई और ये मर गया वही उसकी खबर बन गई अब खबर कौन सी जगह पर है तो वहाँ पर ना घास है ना पानी है कुछ नहीं है चटियल मैदान में उसकी खबर उसी को यहाँ पर बयान किया है असल यहाँ पर बतलाना क्या है बतलाना यही है कि ये देखो इस जिन में जिनका कलीम जिनका ये शायर है जिनका ये जिन्नी का ये शायर है और उसमें जो शेर इस्तेमाल क्या है इसके अंदर जब ये कलिमात बनते हैं यानी एक साथ इनको मिलाया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है जबान पर दखल पैदा हो जाता है अलग अलग करते हैं तो दखल नहीं होता वलीस वलीस कबरिन वलीसा क़ुरबा कबरी हरबिन कबरू और हर्ब की कबर के पास कोई कबर नहीं है हर्ब वह हुआ इसम रजुलिन और वो एक आदमी का नाम है वह सदरुलबैती और शेर का शुरू सदर सदर कहते हैं शुरू शेर शेर का शुरू क्या है वह कब्र हरबिन बिमकान कफरिन और हर्ब की कबर ये मकान कफरिन कफर मकान में है यानी बे आबो गया जगह में है बे आब गया जगह में है बे आब गया क्या पा, घास पानी के अलावा वाली जगह में है आगे उसी को बतला रहे आई खालिन अनिल माई वल कलई यानी वो जगह खाली है पानी और घास से मुसनफ़ रहमत आलह की एक किताब है अजाइबुल मखलूक़ात उन्होंने इस वाक़े को उसके अंदर जिक्र किया है उसी को बयान फरमा रहे हैं जकारा की अजाइबिल मखलूक़ाती जिक्र किया है मुसनफ़ आलह रहमान अजाइबुल मखलूक़ात में क्या अन्ना मिनल जिन्नी नवान युकाल हातिफ कि जिनकी एक किस्म है जिस किस्म को हातिफ कहा जाता है उसमें से कोई जिन जो है उसने क्या करा फसाहा वाहिदुम निनहुम अला हर्ब इब्न उमैयता बस उनमें से एक हर्ब इब्न उमैया पर चिल्लाया उसने चीख मारी फमाता हम इबन मैया लुढ़क गया यानी मर गया फमाता बस वो मर गया फ़काल जालिकल जिन्नी यू हादल बईस बस उस जिन्नी ने ये शेर कहा कौन सा शेर जो आगे आ रहे और जो हो चुका करबो कब्र हरबिन भी मकान बकरिन लईसा कुबरा लईसा कुरबा लेसा लईसा कुरबा कबरी हरबिन कबरू जरा कहिए दो मरतबा एक साथ में है पूरा कहता है ठीक चलो कितना शकील हो रहा है जबान पर है ना तो इसलिए कलाम फसीह नहीं है वकौल करीम मता अमदाहू अमदाहू वलवरा माया वज़ा मालुम तुह लुम तुह वाहदी वो ऐसा सखी है कि जब मैं उसकी तारीफ करता हूँ तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ वलवरा माई दरा हाल के मखलूक मेरे साथ होती है वैदा मालूम तो तो और जब मैं उसकी मलामत करता हूँ तो मैं उसकी मलामत करता हूँ किस तरह कि मैं लुमतू तो हूँ वाहदी तो मैं उसकी तनहा मलामत करता हूँ इसके अंदर भी चूँकि ज़बान पर थोड़ा सा शिकल हो रहा है ज़बान पर शिकल है तो ये ज़बान पर शिक्ल होने की वजह से अलग अलग कलिमात अगर लो तो इसके अंदर क्या नहीं है शिकल नहीं है लेकिन अगर एक साथ जोड़ते रहते हो तो उसके अंदर शिकल हो जाता है इस वजह से ये कलाम कलाम फसीह नहीं होगा मतलब शहर का जाहिर है जानते ही हो कहना चाह रहे हैं कि वो जो मेरा ममदूह है ममदूह किसको कहते हैं अरे ममदू जिसकी बुराई बयान की जा रही है ममदू कौन अरे जिसकी तारीफ बयान करता है वो जिसकी तारीफ बयान की जा रही है वो के तो सखी है कि बस क्या बताऊं मैं अगर उसकी तारीफ करने लग जाता हूँ तो वो सारी मखलूक सब तारीफ करने में लग जाते हैं लेकिन अगर मैं कभी उसकी मलामत करने में लगूँ बुरा भला कहने में लगूँ तो अकेले रह जाता हूँ कोई भी नहीं यानी वो इतना सही है और इतना जो है अच्छा आदमी है तो उससे किसी कोई नुकसान ही नहीं है कोई खाजा अब फरमाते हैं फल फलवाऊ फिल वरा फी वल वरा लिल हाली बस वाऊ वल वरा में काय के लिए है लिल हाली हाल के लिए इसीलिए तर्जुमा क्या क्या था वो ऐसा सखी है कि जब मैं उसकी तारीफ करता हूँ तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ वल वरा में ही हाल के मखलूक मेरे साथ होती है है बोलबरामाई तरह हाल के मखलूक मेरे साथ होती है फलवाऊ फिल फलवाऊ फी वलवरा बस वाऊ वलवरा में हाल के लिए है वह हुआ मुबतदा और वह मुबतदा है वह खबरू माई और खबरू क्या है उसकी माई है अरे खबरू हाँ, खबरू उसकी माई है भाई है मैया है वखबर माई और उसकी खबर माई है वल वरा ये तो फरमा रहे ना हाँ ये है मुबतदा और माई खबर वनमा मसला मिसालें और जुजी ने सके दो मिसालें बयान की यहाँ पर दो मिसालें आई ना लेसा कुरबा कबरी हरबिन कबरू करीमन बता अलवरा मैया वैदा मालूम तू लुम तू वाहदी इसी को बता रहे दो मिसालें पेश की हैं ले अन्नल अव्वला मुतनाहिन फिसली इसलिए कि पहली मिसाल वो शिकल में इंतहा को पहुँचने वाली है पहली मिसाल के अंदर ज़्यादा शिकल है वह आसानी दूना हो और दूसरी मिसाल उससे कम है ये भी जाहिर भी है लईसा कुरबा कबली हर दिन कबरू करीम मता अमदाहू अमदाहू अलवरा नई वजा माल उमतू उमतू वही बताओ उसके खुल किसके अंदर है ज़्यादा पहली में या दूसरी में पहली में और दूसरी में क्या है कम उसी को यहाँ पे इन्होंने बतलाया है आगे इसकी इल्लत बयान कर रहे हैं नीचे तक चलो फिर इसको थोड़ा लंबा है तो